ईश्वर जी एक एकमात्र आश्रय हो तुम्हारे जीवन से आनंद की रस की मधु की गंगा प्रवाहित होना चाहिए उनके लिए मधु वातावरण थे मधु तरंत सिंधवा माधवीर न संतोष भी मधु मधु मधु चारों ओर तुम्हारे जीवन से मस्ती निकले दुनिया को रुलाने के लिए नहीं पैदा हुए हो दुनिया को लड़ाने के लिए पैदा नहीं हुए हो तुम अपने स्वार्थ और भोग की पूर्ति के लिए पैदा नहीं हुए हो तुम उस ईश्वर के अंश हो उस ईश्वर में से निकले हो जो संपूर्ण विश्व को अपने सुख से आनंद से भर दे तो गीता ये ज्ञान देने के लिए इसलिए तो जीवन देने के लिए ये जीवन सत है सत जीवन ये ज्ञान चित्त है चित्त ज्ञान है सत ज्ञान ये आनंद सत आनंद है ये वितरण करने के लिए ये बांटने के लिए ये गीता माता गीता माता आई हुई है हम पहले هيك تستكفي وتهدى तुम सब मेरे पास आओ मैं तुम्हें शांति दूंगा ऐसा मैंने और वो वचन निकला कहा आया कहा बाइबल में तुम सब मेरे पास आओ मैं तुम्हें शांति दूंगा वो कहाँ से निकला है सबको वो गीता में से निकला माम एकम शरण व्रज अहम त्वा सर्वपापे मोक्ष मां सुचर भरोसा दूसरे का मत करो एकमात्र मेरे भरोसे पर सादार्थ नहीं अहम हुआ ऐसी जिम्मेवारी देने वाला जीवन है सब अविद्या से दुख क्यों होता है तुम्हें दुख से छुड़ा दो अच्छा दुख से छुड़ा दोगे तो दुख के कारण तो पाप है बोले पाप से नहीं छुड़ा तो पाप का कारण तो अपना कर्तृत्व है तो उससे भी छुड़ा है कर्तृत्व का कारण तो भोक्तृत्व है और किसी भोग के लिए कर्तृत्व आता है और तो उससे भी छुड़ा है तो कर्तृत्व भोक्तृत्व का कारण तो अज्ञान है का तो अज्ञान से भी छुड़ा सर्वपाप एक दिया आप मान लेके बैठे हैं उसको धर्म का अभिमान करेगा उसको पाप का भी अभिमान करना पड़ेगा जो अपने हैं पुण्य को दिखावेगा ना पुण्य को धारण करेगा मैंने ये पुण्य किया मैंने ये पुण्य किया तो उससे जब कभी पाप हुआ होगा तो उसकी जिम्मेवारी भी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी तो कहने में थोड़ा संकोच करता तो है पता नहीं कैसे कैसे लोग बैठे हैं क्या क्या समझ बैठे हैं एक महात्मा की कुटिया पर मैं गया उनके दरवाजे पर एक स्टोर दिखा आप हंस लेना केवल उसको सुन के आप हंस लीजिए और कुछ लिखा हुआ था सर्वा गीता मया गीता तत्र हो निश्चय सर्वधर्म परित्यागी सर्वपाप ही प्रमुचते हे भगवान मैंने सारी गीता पढ़ ली और सारी गीता पढ़ के इस निश्चय पर पहुंचा कि यदि हम धर्म का परित्याग कर रहे हैं तो सब पापों से भी छूट जाएंगे तो सर्वधर्म परित्यागी सर्व पाप ही थे सर्वधर्मान परित्यज्य अहम क्वा सर्व पापे भी हो मोक्ष तुम धर्म छोड़ के आओ धर्म का अभिमान लेकर बैठते हैं ना जब धर्म का अभिमान लेंगे तो बाप का अभिमान लेना ही पड़ेगा और मीठा मीठा समर्पित कर दो भगवान को धर्म समर्पित कर दो भगवान को परिक्रमा करे इसके कारण जो जो अच्छाई थी तो इसके पास जो जो अच्छाई थी सो तो, तो हमको दे दी तब तब ये मेरा कर्तव्य है कि इसके पास जो बुराई है जो दुखदाई है तो उससे मैं इसको बनाऊ और आप कहोगे मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा तू हम अच्छाई अच्छाई के अभिमानी हम और बुराई बुराई तुम दूर करो कैसे दूर करो किसी से यद करोसी यदश्नासी यद जुहोसी ददासी यद यद तपस्यति कौंतेय तत्पुरुष्व पदर्पणम शुभ अशुभ फल मोक्ष से कर्म बंधनयी संयास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम वैश्यति भगवान ने कहा जो करते हो सब पाए ये नहीं कि अब पुण्य अपने पास रख लो और पाप हमको ऐसे नहीं जो करते हो सो तो सब जो खाते हो सो तो सब जो होम करते हो सो तो सब जो दान करते हो सो सब जो तपस्या करते हो सो सब बोलो मेरे प्यारे बोलो यद करोमी यदश्नामी यद जुहोमी ददामी यत यद तपस्या भगवन तत् करोमि त्वदर्पणम उद्धव से भगवान ने कहा सौदाना परिस्थिति का प्रभाव पड़ मृत्यु ददात्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितों में सदा मृगत्व प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय कल्पते वही भगवान बोलते देखो तुम बहुत बिखरे सर्वतो मृत्यु मनुष्य चारों ओर से मृत्यु से गिरा हुआ है तो तब जरा अपने बल को उसकी ओर से इस अभिमान से हटकर मेरी ओर देखो देखो इसका निवेदिता हाथ जोड़ के और मेरी आंख से आंख मिला के या मेरे चरण में पर हाथ बढ़ा के खड़े हो जाए एक बात केवल एक बात सन्न हो थी वो मुई जब और जन्म हो जन नाशों रही अघ का नाश साधारण नहीं है कर्म सिद्धांत के अनुसार अग उसको कहते हैं जो न हन्यते भोगम बिना इति अघा भोग के बिना जिसका नाश न हो उसको बोलते हैं आग तो लेकिन कब तक तो जब तक भगवान की ओर पीट करके और दुनिया की ओर मुख करके खड़े हैं जरा सा घूम जाओ सम्मुख हो जाओ सम्मुख हो जाओ आओ आओ निवेदिता जब संसार की मृत्यु से और अभिमान से अपना मुंह मोड़कर ये जीव ईश्वर की ओर देखता है तो भगवान कहते हैं विचिकीर शीतों में मया विशिष्टन कर तुम इष्टा विचिकीर सीता मैं स्वयं चाहता हूं कि इसको एक विशिष्ट बना दूं हाँ, अब तक ये साधारण मनुष्य रहा है अब ये महापुरुष हो जाए ये सत्पुरुष हो जाए जिसके अंदर मेरी विशेषताएं प्रकट हो जाए और जब मैं चाहता हूं कि ये विशिष्ट हो जाए सदा तत्व प्रतिपद्यमान कल कल्पते वही तब उसको अमर तत्व की प्राप्ति हो जाती है और वो मुझसे एक हो जाता है इसी से भगवान ने कहा देखो मेरी बात का भी ज्यादा ध्यान ऐसे कहा भागवत आध्यायम गुणाम दोषाम मयादिष्टा प्रतिष्ठकात अपने गुण दोष की ओर मत देखो किसने क्या करने को कहा है कि ये भी मत देखो धर्मान संतिज सर्वान धर्म का अभिमान छोड़कर अभिमान छोड़ दो निराभिमान होकर मेरे सामने आओ और तुम देखोगे कि मेरी सेवा हो रही है भगवत सेवा में बाधक अभिमान है अभिमानी पुरुष सेवा नहीं कर सकता न प्रांत तो की सेवा कर सकता न राष्ट्र की सेवा कर सकता न जाति की सेवा कर सकता न मानवता की सेवा कर सकता वो तो जो कुछ करेगा उसके द्वारा अपने अभिमान की सेवा करेगा और जहां अभिमान से छूट करके मनुष्य और दुनिया यही चाहती है वो हम करेंगे तो सेवा हमारी संस्था बहुत बढ़िया है हम करेंगे तो सेवा लेकिन उस पर कंट्रोल हमारे ही है बड़ी बड़ी अच्छी संस्थाएं इसी धारणा के कारण अंत में मार्ग भ्रष्ट हो जाते हैं वो फिर व्यक्ति की सेवा में लग जाती है वो फिर सार्वजनिक सेवा में नहीं लग पाती भगवान संत सर्वान प्रदेशो उद्धव जी को भगवान ने ऐसी आज्ञा दी लोग कहते हैं बदहबी बदहबी घर का अपरस है आप सुनो श्री कृष्ण बोल रहे हैं तस्मात्मुत्सृज्य चोदना प्रतिचोदना प्रवृत्त निवृत्त श्रोतव्यम श्रुतमेव मेकमेव शरण आत्मा सर्वेना या ही सर्वात्म मया स्याकुतो मया भगवान ने कहा क्या प्रवृत्ति है और क्या निवृत्ति है ये झगड़ा न कभी निपटता है न कभी निपटेगा छोड़ो इसको क्या विधि है और क्या निषेध है इसको पूर्ण रूप से किसने जाना है किसने साक्षात्कार किया इसका तस्मात्म दौ तृत्य चोदनाम प्रतिचोदनाम विधि और निषेध को छोड़ दो च निवृत्तन च प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग के विवाद में मत पड़ो श्रोतव्यम श्रोतव्य वच इतना सुन लिया है जान लिया है और इतना सुनना बाकी है तो इसको भी छोड़ो तो, तो मेरी शरण जाओ नाम एकमेव शरणम बोले बाबा तुम हो कहा कि तुम्हारी शरण में आए जरा दिख तो जाओ बोले अरे उद्धव आत्मा सर्वदेव ये जितने देहधारी हैं सबके भीतर दिया अलग हो तेल अलग हो बत्ती अलग हो बस तो में जो आग है ना जो लव में अग्नि है वो सब लव में एक है दिया अलग हो तेज अलग हो बत्ती अलग हो उनके जलने का स्थान अलग हो उनके जलने का समय अलग हो अलग अलग दिखें लेकिन सबके भीतर अग्नि हृदय को भुवनम प्रविष्टा रूपम रूपम प्रतिरूपम बहुतम जैसे सृष्टि में बल्ब गर्भ में रोशनी अलग मालूम पड़ती है लेकिन रोशनी एक है बिजली एक है यहां तक कि जो बल्ब बना है उसमें भी माटी पानी आग एक है तो भगवान कहां मिलेंगे आत्मान सर्वदेनाम ये जो देहधारी हैं ये जो मनुष्य हैं ये जो जन जन है ये जो मन मन है ये जो कणकण है ये जो कणकण है ये जो जन जन है ये जो प्रत्येक शरीर में अलग अलग मन है सबके आत्मा वही है सबके भीतर वही है भगवान की शरण होना वाले जा ही सर्वात्मा सबकी आत्मा के रूप में अल्लाह है सर्वविद सत्र सर्वविद भजत इमाम सर्वभावी निवार भगवान की सेवा कैसे होती है कि सर्वभाव से होती है और भगवान ने मछली बन के बताया कछुआ बन के बताया जल की शुद्धि मछली बन के करते हैं वो और मन की एकाग्रता कछुआ बन के करते हैं संजम समाधि सुअर बन के वो गंदगी साफ करते हैं भगवान वीरता सूरता प्रकट करने के लिए सिंह बन जाते हैं ये भगवान का रूप है पीपल में भगवान है तुलसी में भगवान है बेल में भगवान है इस कारण हमारी पुरातन न्याय से और लता में भगवान है वृक्ष में भगवान है धरती में भगवान है ये सब भगवान की प्रकृति है भगवान का स्वभाव महान कृष्ण से जन कहा प्रभाव तो भगवान की शरण में जाना क्या भगवान की शरण में जाना माने सर्वत्र भगवत भाव होना सर्वात्म भाव होना केवल परमात्मा का दर्शन होना या ही सर्वात्मा भावे न भया यकुतो भया अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा तू अकुतो भय हो गया किसी प्रकार का भय तुम्हें हो गई नहीं तो हमारे जीवन में जो शोक है जो मोह है जो भय है कच्चित अज्ञान संभव नष्टस्ते धनंजय गीता जब मैं सुनी गीता पूरी हुई वो का नाश हो गया वो गया पूछते हो ये नहीं जब तेरे मोह का नाश हो जाएगा ये वादे का सौदा नहीं है आज जब तक कुछ न हो वादे का सौदा चलता है बाजार ये गीता वादे का सौदा नहीं है कि आगे ऐसा होगा आगे ऐसा होगा कच्चित अज्ञान सम्मोहा प्रनष्टस्ते धनंजया अर्जुन बोलो साफ साफ बोलो तुम्हारा ज्ञान जनक सम्मोह नष्ट हो गया कि नहीं कच्चित अज्ञान सम्मोह पर नष्ट नशे नशे शांत जब वो धन सकार हो जाता है तो न का नाम है और नष्ट से धनंजय नष्ट हो गया इसमें नष्ट हो गया और अर्जुन बोलते हैं नष्ट वो साथी भोग नष्ट हुआ मेरा मोह नष्ट हो स्मृतिर्लब्धा स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष हमें स्मृति की प्राप्ति हो गई सारी गांठें सारी उलझने गांठें माने ग्रंथियां ग्रंथियां माने उलझने जो हमारे जीवन में जितनी समस्याएं थी जितनी उलझने थी सबका समाधान हो गया स्मृति की प्राप्ति हो गई मुगल रहा ऐसे मिली तब तो तुम खुश हो गए ना तुम प्रसन्न हो हमारे अंतकरण में हमारे अंतकरण में तुम तो मुस्कुरा रहे हो पड़ता है तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो ये तुम्हारी प्रसन्नता से ही ऐसा हुआ है और मेरे मन में कोई संशय नहीं है कि तो उसकी को पसंद देगा परिश्री वचनम तव तुमने जो बारंबार कहा उत्तिष्ठोत्कृष्ट भारत युद्धस्व विगत मां मनुस्मर युद्ध इस जीवन के संघर्ष में इस जीवन के युद्ध में तो मैं तैयार अब ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो हमको हरा दे अब अपराजित होकर के अब मैं अपराजित होकर के तैयार हूं कोई पराजित करने वाला करिश्मा